ॐ आप्यायन्तु महा सामवेदीय के परिषद चतुर्थ द्वितीय खंड के पंचम मंत्र के मंत्र भाष्य हो गया है टीका के साथ है जिसमें प्रसंग चल रहा था कि राजा जान सिद्धि का एक हजार गाय एक कन्या एक सोने का हार और एक खच्चर से लदा हुआ रथ इतने लेकर के जाना ये सारी संपत्ति आप लीजिए और जिस गांव में आप हो वो गांव भी आपको लीजिए मैंने संकल्प किया है वो गांव भी आपके लिए होगा इत्यादि और मेरे लिए कृपा करो जिस देवता की उपासना आप करते उस देवता के आगे ये राजा की प्रार्थना है तो उसमें उपदेश देना है ज्ञान दान करना है ऋषि ने तो स्थिति में विद्यादान में कन्या को मुख्य रूप से हेतु समझा क्योंकि बहुत बड़ी चीज राजा ने की है अपनी कन्या को भी लाया उस ज्ञान के लिए इसे मतलब पिपाशा है पिपासु है वो ज्ञान के पिपासु है ये समझ करके कहते हैं टीका में कहते हैं विद्यादान है तस्या द्वारा हाँ। विद्या देना है हाँ, ऋषि में उसमें माध्यम है कन्या मुख्य रूप से तस्या द्वारपम तब दापुष्ट और वो देने वाला जो व्यक्ति होगा राजा जान सुधी तब दापुष्ट वर ज्ञान दान तीर्थदान श्रेष्ठ ज्ञान वर ज्ञान मान श्रेष्ठ ज्ञान लौकिक ज्ञान नहीं देना चाह रहे अलौकिक ज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान बड़ा शब्द जाता श्रेष्ठ है यहाँ श्रेष्ठ ज्ञान दान के तीर्थ समझा पात्र समझा राजा को मान ये इतने बड़ी वो कर दी इसने शर्त रख दी कन्या तक लाया है इसका मतलब ये विद्या के पिपाशु है पात्र है ये समझा ये कहते हैं विद्यादान तस्या द्वारा तुम उस विद्या के प्रदान करने में उस कन्या को माध्यम समझा क्योंकि राजा अपनी कन्या लेके आया है फिर तो जंगल में रहने वाले ऋषि के लिए तब धातु से और कन्यादाता जो है राजा उसको बर ज्ञान दान तीर्थदान श्रेष्ठ ज्ञान दान के तीर्थ है पात्र है समझा यदि ज्ञानन उवाच समझा ऐसे भाष्य में ऐसे समझा ऐसे जानते हुए ऋषि ने कहा ये कहते हैं ये समझ तो कहते हैं धन धातु विद्या तिरत्य प्रमाण राजा ने धन दान किया है सारे धन ही धन लाया है कन्या भी एक धन है उसके सभी धनों में प्रजा भी धन है कन्या भी धन है तो विद्यादान धन धातुर राजा धन दाता है उसको विद्यादान तीर्थत्व प्रमाण विद्या देने में तीर्थ है पात्र है इसमें प्रमाण देते हैं कोई स्मृति का प्रमाण दिया कि ब्रह्मचारी धनदायी मेधावी श्रोत्रिय प्रिय विद्या व विद्या प्राह ताने तीर्थान संगमा इस स्मृति ये मेरे छह पात्र होते हैं सारे है ब्रह्मचारी है धन देने वाला है बुद्धिमान है वेद में पारंगत है श्रोत्रिय है और प्रिय अत्यंत प्रिय है चाहे पुत्र हो चाहे शिष्य हो प्रिय होता है और अथवा विद्या से विद्या एक विद्या एक के पास दूसरे विद्या दूसरे के पास परस्पर आदान प्रदान से विद्या छह तीर्थ मेरे हैं एक स्मृति में आया एक कहा तस्या वार्ताम विद्यादान तद्धातु त्रिविधान उवाच उत्तम अनुवादित पूर्व में कहा था उस कन्या को विद्या देने में माध्यम समझा ज्ञान देने में और उसके दाता को तीर्थ में पात्र समझा ज्ञान का पात्र समझा ऐसे जानते उवाच जो पहले कहा था उसको दोबारा अनुवाद करते हैं भाष्य में कहा एवं जानन भाष्य में कहा एवं जानन उपदग्रहण उवाच उत्तर इस प्रकार जानते हुए माने कन्या है ज्ञान देने के लिए माध्यम और राजा है पात्र ऐसा जान करके उपोध ग्रहण उवाच ग्रहण करते हुए धन को ग्रहण करते हुए लाए हुए धन को ग्रहण स्वीकार करते हुए कहा उपवाच उवाच कहा कहते हैं ऋषि ये कहा क्या कहा तो कहते हैं किम उक्तम इति अपेक्षा क्या कहा ऋषि ने तब कहते हैं आयहार आयतवान भवान यद इमाम का यज्ञ अन्य धनम तत्साधु विशेष लाया आपने लाया ये आजहार जेट लगा रहे जहार आंग लगा दिया लाया आप जो लाए हो लाया क्या आहिर भगवान आपने जो लाया भगवान आप लाए यद इमाम का जो ये धन लाया ये गायों को लाया क्या कहा यज्ञ अन्य धन बाकी से सारे धन लाए तत्साधु अच्छा किया मैंने गृहस्थ आश्रम के लिए पर्याप्त है ये समझना चाहते हैं इसी ये वाक्य शेष लगा देना कहा तत्र वैधर्म दृष्टांत आगे जाके बोलते हैं सूत्र शब्द यहां भी प्रयोग किया है आज सूत्र ऐसे ऐसा शब्द प्रयोग किया है इमा कहा इमा आज सूत्र तो यह सूत्र शब्द पहले जैसा नहीं विपरीत है या केवल अनुकरण मात्र है पहले तो वास्तव में क्रोध में आकर के बोले थे शूद्र करके अल्पधन लाया करके अभी वो उनमें वो नहीं है वो भाव नहीं है अभी तो पहले जैसे शब्द बोल रहे थे वैसे शब्द बोल दिए ये कहना चाहते हैं सूत्र इति भाषिका पूर्वोक्त तो अनुकृत मात्र पूर्व में जो सूत्र शब्द का प्रयोग किया था उसी का अनुकरण मात्र है ये इसमें अर्थ नहीं सूत्र शब्द का न तो कारणांतर अपेक्षा कोई कारण नहीं अभी उस समय तो अल्प बहुत धन की इच्छा थी कारण था इसलिए सूत्र शब्द का प्रयोग कर दिया था ऐसा नहीं न तो कालांतर अपेक्षा पूर्ववत मन व्यतिरिकी दृष्टान्त है टीका ये टीका में कह रहे हैं तत्र वैधर्म दृष्टान्त वहा वैधर्म दृष्टान्त व्यतिरिकी दृष्टान्त देते हैं पूर्ववत वाला पूर्ववत न कारणांतर अपेक्षा न पहले जैसा नहीं कैसे पहले कैसा था कहते हैं अल्पधन हरण अनिच्छायाम कारणापेक्षायाम शुक्र इति संबोधन पूर्व में था अल्पधन लेने की अनिच्छा हो गई उनकी ऋषि अल्पधन हरवा अनिच्छाया अल्पधन के लेने में इच्छा नहीं किसी न होने पर कारणापेक्षा क्यों ऐसा तो कहते शूद्र शब्द संबोधन कर दिया ये कहा टिप्पणी कार कहते हैं इसको कुछ संशोधन होना चाहिए अल्पधन आदि में ये कहना चाहते हैं अल्पधन आहार ने अधिक धन इच्छा रूप कारणापेक्षा जब थोड़ा धन किसी को मिलता है तो ज्यादा की इच्छा हो जाती है विश्व बष्टि शतम सती दश शतम लक्षम सहस्राधिक ऐसा है जिसके पास कुछ नहीं होगा वो सौ रुपये की इच्छा करता है विश्व वष्टि सतम निर्गता सोम बात से विश्व कोई धन नहीं जिसके पास सौ की चाहना होती है विश्व वष्टि सतम सती दश शतम सौ मिल जाए तो सौ से क्या होगा हजार मिले तो कुछ काम होगा हजार की चिंता हो जाती है मां को इच्छा होती है लक्षम सहस्राधिप यदि हजार वाला हो गया तो लाख की इच्छा होगी हम्म। अल्पधन मिलने पर ज्यादा धन की इच्छा होती है लक्षण सहस्राधिक लक्ष्य ऐसा चिथि पालता जब धन ज्यादा हो जाता है तो जन अधीन करना चाहता है तब जन आदि के लिए नेतागिरी आदि करना चाहेगा राजा बनना चाहेगा लक्षण सहस्राधिक लक्ष्य होने पर हाँ, सहस्त्र सहस्त्र का क्या होगा लक्ष्य चाहेगा लक्ष्य ऐसा क्षति पालना लाख रुपया हो जाए तो जनों की अपने कब्जे में करने की इच्छा करेगा पहले धन संग्रह था अब जन संग्रह करने लग जाएगा लक्ष्य क्षति पालकम क्षितिपति चक्रेश्वरत्व पुनः छोटा मोटा राजा बन गया वहां तृप्त नहीं होगा चक्रवर्ती राजा बनने की इच्छा होगी आशा आशा बनेगा चलो वो भी हो गया चक्रेश पुनरिंद्रदान यहाँ के तो भूमंडल का होने के बाद फिर ऊपर वाले का हाँ बड़ा इंद्र है वहां से वर्षा नहीं करेगा भूखमरी पड़ेगी इंद्र बनने की इच्छा हो गई चलो वो भी मिल गया लक्ष्य क्षति पावताम क्षतिपति चक्रे सूरतम पुनः चक्रे सह पुनरिंद्रताम सूरपति ब्रह्मास्पदम वांछति जब इंद्र की भी मिल जाएगी को एक दिन निश्व था कुछ नहीं था होते होते वहां पहुंचा हुआ तो ब्रह्मा की पद चाहता है क्यों मैं तो केवल व्यवस्थापक हूं सृष्टिकर्ता तो ब्रह्मा है बड़ा होगा सृष्टिकर्ता वो इच्छा होगी उसकी तो ब्रह्मास्पदम बाधित ब्रह्मा विष्णु पदम हरि शिव पदम आशा वधि को गता ऐसा लिखा है कभी ब्रह्मा विष्णु के पद चाहते हैं पालन करने वाले तो हैं खाली सृष्टि करने मात्र से काम नहीं देगा पालन करने वाला बड़ा होगा ब्रह्मा विष्णु पदम हरि शिव पदम आशा वधि को गता आशा की अवधि को किसने पार किया आशा बढ़ती रहती है आशा ऐसी है जितने भी हमें संपत्ति मिले और अधिक और अधिक जैसे अग्नि में ईंधन डालने से अग्नि बुझने वाली नहीं है और धधकती है वैसे जितने विषय की उपलब्धि हो उससे हमारी आशा बढ़ती रहती है यही है यहाँ यही कहना चाहते हैं टिप्पणकार बोलते हैं अल्पघन आहार में अधिक घन इच्छा रूप अपेक्षा यह ऐसा पाठ होना चाहिए कहते हैं टीका का पाठ ऐसा होना चाहिए अल्पधन आहार होने पर लेने पर अधिक धन की इच्छा रूप कारण है अल्पधन पहले लाया उसने तो ज्यादा धन की इच्छा हो गई इसलिए शूद्र शब्द का प्रयोग कर दिया था वहां यहां ऐसा नहीं है यहां तो केवल अनुकरण मात्र है ये प्रश्न होता है एक अल्पधन आहरण अधिक धन इच्छा रूप अपेक्षा इति युक्त पाठ ऐसा युक्त पाठ है अयम अन्यथा तो भारतीय पाठ को टीका में कुछ अन्य प्रकार हो गया ऐसा लगता है ऐसे ऐसा मालूम पड़ता है एक परिणाम रैक्वेणा ग्रामादिगम गृहित विद्या जान श्रुते दत्ता यदि असमान प्रति स्तुति ज्ञापयती रैक्य ऋषि ने ग्राम आदि जो सब लेकर के गृहित विद्या जान श्रुते दत्ता विद्या जो है जान श्रुति राजा को दे दिया ज्ञान दिया संवर्ग विद्या को उपदेश किया यदि असमान प्रति स्तुति ज्ञापन यह स्तुति हमारे लिए बोलती है ज्ञापन करती है स्तुति संवाद के रूप में था हट करके स्तुति बोलती है ते हईते इत्यादि स्तुति बाकी है ते हईते ग्राम ये सब गांव रैक को बड़ा नाम विख्यात रैक को बड़ा नाम से प्रख्यात है गांव महावृषेश देश मैंने देश है महावृष नाम का देश है वहां रैकोवर्ण नाम के गांव है देशेशु येसु ग्रामेशु उबास उवास जिस गांव में ये रहा पहले से रैको येसु ग्रामेशु वास सिद्धांत रैको जहां पहले से निवास करते थे रैको तान अशोक ग्रामान तान ग्रामान अशोक पदार्थ ये ऋषि को वह राजा ने दिया तो क्यों दिया अस्मयी रखवा है असौ अदा राजा ने वह राजा ने रेको को दिया रेकवा है राजा राजा ने दिया तस्मय राज्य धनम दत्तवते किल उवाच विद्याम सदैव धन देने वाले जो राजा हैं उनको विद्या का उपदेश करते हैं आगे रहेगा संबर विद्या का उपदेश करते हैं ये कहा टीका में कहते हैं महापुरुषेशु महापुण्यशु महापुण्य देश है उसमें रैकोपरा को का गांव है कई गांव है बहुवचन है वो दिया महापुरुषेशु महापुण्यशु दिया ऐसा बोला अब रैको को ऋषि ज्ञान श्रुति राजा को उपदेश करते हैं अभी तक तो भूमिका के रूप में चल रहा था अब ज्ञान का उपदेश करते हैं मंत्र है आगे वायुर्भाव संवर्गो यदा वा अग्निर्दवायती वायुङ्गेवाप्येति यदा सूर्योऽस्तमेति वायुङ्गेवाप्येति यदा चन्द्रोऽस्तमेति वायुङ्गेवाप्येति वायुर्वावसम्वर्ग यदा वा अग्निर्वायती वायुमेव अप्येति यदा सूर्योऽस्तमेति वायुमेवाप्येती यदा चन्द्रोऽस्तमेति वायुमेवाप्येती टीका में कहते हैं कथम विद्याम भुक्तवा मंत्र में कहते हैं वायु भाव मन एवं वायु ही संवर्ग है माने या वायु शब्द से बाह्य वायु अधिदैव के लिए बोलना चाहते हैं अध्यात्म वायु के बारे में आगे आएगा प्राण के बारे में आगे आएगा वायुर्भाव संबंध यदा बा अग्नि उद्वाहती यदा बई जब प्रसिद्ध है अग्नि जब बूझ जाती है तो कहा जाती है अग्नि तेज है कहां लीन होना होता कारण में वायु में वायु में वाक्य जब अग्नि बूझी माने कार्य का लय कारण में हो जाता है वायु में बूझना है उसमें यदा सूर्य अस्त में तो सूर्य भी तेज तेज है प्रकाश है वायु में लीन होना उसने इधर सूर्य अस्त जो सूर्य अस्त हो गया बोलते हैं वायु में लीन होना है और यदा चंद्रो अस्तमेरी चंद्रमा का अस्त होना वो भी तेज रूप है वायु में भी अस्त होना है आगे जल के बारे में आएगा अगले मंत्र में अच्छा ठीक है हम कहते हैं कथम विद्या उत्तवान कैसे विद्या को उपदेश किया हमारे दो प्रकार से करेंगे अध्यात्म वायु और अधिदैव वायु की चर्चा करेंगे यहाँ इंद्रिया आदि को समेटने वाला है प्राण सुशुक्ति काल में प्राण चलता है वहां कोई इंद्रिया काम नहीं करती ऐसी स्थिति है और वायु वायु माने वो जो अधिदैवत वायु होगा प्रलय काल में सारे उसी में लीन होना है पहले तो बताएंगे गौण रूप से जब जब आदि होते हैं तो उसमें लीन होना मुख्य रूप से कहेंगे प्रलय काल में समस्त हो जाते हैं उसमें धीरे निकल ये बोलना है कथम विद्या मुक्तवान इतिहास संख्या शंका होगी कैसे विद्या को बताया इतने धन लेने पर ऋषि में कहा अधिदैवतम तदुक्त प्रकार दर्शयती अधिदैवित वायु को कथन करते दिखाते हैं तदुक्ति तदुक्त ऋषि ने जिस प्रकार से कहा हुआ तस् उक्ति तदुक्ति ऋषि के जो कथन है उसी के प्रकार बताते हैं ये कहा वायु भाषण कहा वायु भाव संपर्क भाव मान एवं वायु ही संपर्क है वायुर्वायु यहां वायु संपर्क से यहां आगे जो सूर्य आदि को लय होने का स्थान बाह्य वायु अधिदेवत वायु ये बोलना चाहते हैं बाह्य वायु भीतर वाला प्राण वायु को नहीं लेना अभी वायु बाह्य बावैध अवधारणार्थ वायु ही संपर्क है संपर्क माने क्या संपूर्वक ब्रिजवर्ज में धातु से घन प्रत्यय करेंगे तो संपर्क होगा संपूर्वक ब्रिजवर्जन धातु है ब्रिजवर्जन है उसे घाय प्रत्यय करेंगे तो गुण हो जाएगा पुगंध लोग ऐसा चयु को घृण्य तो से कुत्त हो जाएगा संवर्ग बन जाएगा एक आने चाहते हैं संवर्ग वायुर्भाव संवर्ग उसको संवर्ग क्यों कहा कहते संवर्गनाथ संवर्ग संवर्गन करता है माने संग्रहणात् सबको संग्रह करता है एकत्रित करता है अपने में सुशुद्धि काल में प्राण वायु एकत्रित करेगा प्रलय काल में हिरण्य सबको एकत्रित करेगा संवर्जनात्मा ने संग्रहण ग्रह सम्यक प्रकार से ग्रहण करता है जैसे सूर्य आदि अस्त होने पर अपने में ले लेता है ग्रहण करता है और संग्रसनात्मा अथवा प्रलय काल में सबको खा जाता है क्योंकि कार्य का लय कारण में होना है समष्टि वायु में सबको लीन होना है हिरण्य गर्भ में यही है दो हेतु दिया संवर्धनात्मा अर्थात संग्रहण सबको ग्रहण करना अथवा प्रलय काल में सबको खा जाना संरचना हुआ संवर्ग इसलिए संवर्ग कहा भक्षमाणा अग्निहत्या देवता आगे देवताओं की चर्चा करेंगे पांच अधिदय कोटि में पांच अध्यात्म कोटि में देवताओं की चर्चा करेंगे बक्षमाणा अग्निहत्या देवता आगे कहे जाने वाले जो अग्नियादि देवता है यदा अग्निर्वायी वायु में अपेती इत्यादि वाक्य आने वाले हैं आगे इसलिए कहा देवता आत्मभावम है तो वायु अपने स्वरूप में स्थित कर देता है अपने अपने स्वरूप में एक कर देता है सबको सूर्यादि अस्त होते समय में अपने में एक कर देता है वायु इति संवर्ग अपने में लीन करता है सबको इसलिए उसको संवर्ग कहा जाता है समेटता है सबको समेटने वाला है इसलिए उसको संवर्ग कहा जाता है वायु को संवर्धनाख्यो गुणो ध्येय वायुवत यहाँ संवर्धन गुण विशिष्ट वायु ध्येय है जैसे वायुधेय है उपास्य है संवर्धन गुण भी ध्येय है केवल वायु ध्येय नहीं संवर्धनाख्य गुणो ध्येयो वायुवत जैसे वायु उपास्य है उस प्रकार संवर्धन नाम का गुण भी ध्येय है गुण विशिष्ट की उपासना है खाली गुण की नहीं जैसे चित्र गुण आनय बोलेंगे खाली व्यक्ति को लाया जाता चिटपिटी गाय नहीं लाया जाता ऐसा नहीं है यहाँ या गुण का भी होगा या लंब कर्ण आनय जैसा है लंबे कान वाले को लाओ कहेंगे तो कान सहित आएगा व्यक्ति तो ऐसा होगा यहां भी गुण सहित की उपासना केवल वायु की उपासना नहीं संवर्धन गुण विशिष्ट वायु की उपासना ये समझना गुण रहित नहीं खाली वायु उपास्य नहीं ये कहा कृताय अंतर्भाव दृष्टान्ताराधा कृताय पहले आया था यथा कृताय पीताय अधरेय समयंती आदि आया था सत्य नाम का कृत नाम का पाशा को जीतने पर सारे पाशे जीते जाते हैं उसमें चार अंक है एक में तीन अंक है एक में दो अंक है एक में एक अंक है इत्यादि कहा था तो जैसे कृत पाशे को जीतने पर सब जीता जाता है वही दृष्टांत यही दृष्टांत यही देंगे आगे कृताय का ही दृष्टांत आना है इसलिए दृष्टांत होने से सब उसी में समेटे जाते हैं अर्थ ही आएगा जैसे सारे पासे नाम के पासे में समेटे जाते हैं यह स्थिति है ठीक है ठीक इसी प्रकार यहां भी उस वायु में सारे समेटे जाते हैं ये दृष्टांत है यहां कृतायाम तद्भाव दृष्टांत कृताय में जैसे अन्य संख्या के अंतर्भाव होना यहां भी सारे एक अग्नि आदि के उसी में अंतर्भाव होना है वायु में ये कहना है प्रथम संवर्गत्व वायु क्या प्रश्न होता है वायु का संवर्ग कैसे बोल दिया बाह्य वायु को समझा आ गई तो कहा देखो इसलिए संवर्ग है सबको समेटता है इसलिए संवर्ग है अथवा प्रलय काल में सबको खा जाता है ये भी दूसरा भी अर्थ करेंगे और बात ऐसा होगा पहले तो समेटेगा यदा यस्मिन काले वही जिस अवस्था में यदा माने यस्मिन काले वही माने प्रसिद्ध है अग्नि उद्वायती अग्नि जब बूझ जाती है उद्वासन प्राप्त होती बूझने का जो कार्य होगा प्राप्त करे माने उपशाम में थे अग्नि शांत हो जाती उसका अर्थ उद्वायती का अर्थ उद्वासन प्राप्त होती उसका अर्थ उपशाम में थे शांत हो गया तदा असौ अग्नि वायु में अप्यति ये जो अग्नि है वायु को ही प्राप्त होती है उस काल में क्यों उसका कारण है वो कार्य का शांत होना कारण ही होना है घर फूटेगा तो मृत्यु होना और क्या होना उसमें स्थिति है वायु को प्राप्त होना है ये कहा वायु स्वभाव में अभिगछति वो अग्नि अपना स्वरूप को खो करके वायु स्वरूप को प्राप्त हो जाती है उस काल में अग्नि बुझ गई माने वायु स्वरूप को प्राप्त हो गई वायु स्वभाव्यम अतिगछति वायु के स्वभाव को प्राप्त कर जाता है तथा इसी प्रकार यदा सूर्य अस्त में जब सूर्य अस्त होता है सूर्य अस्त हो गए बोलते हैं हम वायु में वायु में ही लीन होना है वायु में लीन होगा इसी प्रकार यदा चंद्रो अस्तमेति जब चंद्रमा अस्त होता है तो वायु में प्रप्रेति तो यह शंका होती है आपको ठीक है अग्नि तो बुझ गई वायु में लेकिन ठीक है सूर्य और चंद्रमा हमेशा ही रहते हैं कहा वो अस्त भी नहीं होता होगा कुछ नहीं होता तो कैसे उनको बोल दिया कि वायु को प्राप्त होगा ये कहते हैं नाम कथम सूर्या सो सूर्य और चंद्रमा दो को स्वरूपावस्थित अपने स्वरूप में स्थित है वो वो कभी अस्त आदि होते ही नहीं हुआ उनका नाश होता ही नहीं कथम सूर्य चंद्रमसो स्वरूपावस्थित सूर्य चंद्रमा दोनों अपने स्वरूप में अवस्थित है व्यवस्थित है दोनों अपने स्वरूप में है वो और कथम वायु अभिगमनम वायु में जाना कैसे बनेगा सूर्य चंद्रमा का अग्नि को तो मान लेते हैं किंतु तो वायु और सूर्य को कैसे चंद्रमा सूर्य को कैसे माने एक प्रश्न आया तो कहते नहीं सर्वोषा सिद्धांत कहते कोई दोष नहीं वहां भी घटेगा ये कैसे घटता है अस्त मने अदर्शन प्राप्त वायु निमित्त जब सूर्य अस्त होता है ना वायु उसको धकेलता है तो अस्त हो जाता है वायु निमित्त है वहां वायु दौड़ाता है उसको वायु विवेक वेग से वो दौड़ता है पूरा जो गैलेक्सी में संगीत जो घूमते हैं तो वही और कौन हवा तो घुमाएगा और कौन घुमाएगा अस्तमन अस्तमने अदर्शन प्राप्त है जो सूर्य के अदर्शन होना अस्तमन माने अदर्शन होना सूर्य वास्तव में अदर्शन होता नहीं है हमारी दृष्टि से अदर्शन होता है तो अदर्शन प्राप्त वायु निमित्त वायु उसको धक्का दे देता है आगे बढ़ा देगा तो हमारे लिए सीख जाएगा दूर होने पर ये कहा वायुना ही अस्तम नियत सूर्य वायु के द्वारा ही अस्त कराया जाता है सूर्य को हम्म, सूर्य अस्त होता है वायु के द्वारा ही होता है क्यों चलन से वायु कार्य सूर्य में जो गति है ना चलन कार्य वायु का है कोई उसको धक्का दे रहा है हम्म, चलन से वायु कार्य ये कहा ऐसे चंद्रमा के लिए सूर्य में तो चंद्रमा भी ऐसे ही है अथवा देखो भाई अथवा यह मान लो जब तक जगत की स्थिति है तब तक तो ये इस तरह से गौण प्रयोग करेंगे अस्त होने का नाम सूर्य अस्तमेती चंद्र अस्तमेती का अर्थ ऐसा करेंगे अस्त होना माने हमारे लिए आदर्शन होना अस्त होना ये मानते हैं अथवा प्रलय काल में ये कहते हैं अथवा मुख्य रूप मुख्य रूप से बोलते हैं अथवा प्रलय सूर्य चंद्रवश हो सूर्य सूर्य से चंद्रवश से सूर्य चंद्रवश हो ऐसा होना चाहिए सूर्य का दीर्घ हुआ है देवता द्वंद्वित सूत्र से दीर्घ होता है जब देवता पाचक दोनों शब्दों का द्वंद्व समास करेंगे तो पूर्व को दीर्घ हो जाता है देवता द्वंद्व ऐसा सूत्र है जब दोनों देवता वाचक सूर्य भी देवता वाचक चंद्र भी देवता वाचक है यहाँ जब दोनों का हम समास करते हैं द्वंद्व समास या षष्ठी का दोनों चले सूर्या तमस हो तो उस स्थिति में देवता द्वंद्व सूत्र से पूर्व को दीर्घ हो जाता है दीर्घ हुआ है सूर्या चंद्र हो स्वरूप भंग से जब प्रलय काल में इनका स्वरूप से भ्रष्ट हो जाते हैं स्वरूप समाप्त हो जाएगा इनका सूर्य भी नहीं रहेगा चंद्रमा भी नहीं रहेंगे प्रलय काल में अथवा प्रलय सूर्य चंद्रमा स्वरूप भंग से भ्रंग से इनका स्वरूप नष्ट हो जाने पर प्रलय काल में तेजो रूपयो वायु एवं अभिगम ये दोनों तेज रूप तो है तेज स्वरूप है ये दोनों सूर्य चंद्र तो वायु में लीन होंगे कार्य कार्य का लीन कारण ही होगा एक कहा ये बता रहे <clears throat> टीका से देखें प्राणोदार संवर्ग यदि बक्षमाण है ना अपुनरुक्तता ये वायु में आदृष्ट है वायु कौन सा वायु लेना है वायु भाव संवर्ग बोला कौन सा आगे प्राणो संवर्ग बोलेंगे आगे अगले पर्याय में आएगा तो फिर यह कि, किसको लेना है वायु कौन सा वायु लेना है इसलिए वायु का विशेषण लगा देते हैं बाह्य वायु ये कहा ये कहते हैं प्राणोभाव संवर्ग यदि आगे तृतीय मंत्र में आएगा ये प्राणोभाव संवर्ग तो वो भी वायु है कौन से वायु शंका होगी यदि बक्षमाणे ना अपुनरुक्तता है पुनरुक्ता यहां भी संवर्ग बोला वहां भी वायु को संवर्ग वहां भी पुनरुक्ता न हो इसलिए कहते हैं बाह्य वायु करके वायु का व्याख्या करते हैं बाह्य वायु कहा संवर्धनात् व्याख्या संग्रहणात् समपूर्वक ब्रिज वर्जन धातु से घाय प्रत्यय करके संवर्ग शब्द बनाया हुआ है संवृजते अश्विन अथवा अनैना कारण में भी हो सकता है हाँ, इसके द्वारा सब समेटे जाते हैं अथवा इसमें सारे समेटे जाते हैं अधिकार में हो सकता है ऐसा है संवर्धनाथ इत्यसे व्याख्या संग्रहणा वही संवर्धनाथ का कहा था संवर्धनाथ संवर्ग संवर्धनाथ माने संग्रहणार्थ ग्रहण कर सम्यक प्रकार से ग्रहण करने से संवर्ग है हाँ, ल्यूट ल्यूट ल्यूट है कहा है ना ल्यूट नहीं संवर्ग शब्द में संवर्ग में हाँ यहाँ गाया है हाँ, संवर्ग शब्द में गाया है संग्रह संग्रहण पक्षम समर्थती जो संवर्धन करता संग्रह संग्रहण किया था उसी को ही समर्थन करते हैं भाष्यकार बक्षमाणा कहा बक्षमाणा अग्नाद्य देवता आत्मभावम थी संवर्ग जो आगे कहे जा रहे हैं अग्नि आदि देवता अग्नि आदित्य चंद्र जल इत्यादि कहेंगे ये सब को अपने स्वरूप में लीन करता है इसलिए उसको संवर्ग कहा बागी को <clears throat> किमित संवर्गत्व बायोर उपदिष्टते तत्र दृष्टान्त स्वरूप प्रमाण है प्रश्न होता है वायु को संवर्ग करके उपदेश क्यों किया जाता है कहते हैं उसमें श्रुति प्रमाण देते हैं दृष्टान्त स्वरूप प्रमाण दृष्टान्त दिया अधरे या समयंती आदि दिया था यहाँ भी यही उसी को दृष्टांत देना है जैसे कृतनाम के आय में सारे आय समावेश हो जाते हैं इस प्रकार ये वायु में सब समेटे जाते हैं ये दृष्टांत देना है इसलिए कहा कृताय कृताय अंतर्भावात कृतनाम के आय में जैसे कार्य होना वैसे इसमें भी हो रहा है कार्य ये दृष्टांत कृताय है कृतनाम का आय लोहा युवा संग्रसनाद व इति उत्तम पक्षम आकांक्षा पूर्व दो हेतु दिया था संवर्धनात् माने संग्रहणात् अथवा दूसरा था संग्रसनात् उस पक्ष को लेते हैं संवर्ग शब्द का अर्थ करते हुए कहा था संग्रसनात् वा इति उत्तम पक्ष में आकांक्षा पूर्वक उत्पादेगा संग्रसनात् वा संवर्ग ये भी हो सकता है अर्थ सबको ग्रस लेता है इसलिए संवर्ग कहा ऐसा अर्थ करने में आकांक्षा पूर्व इस पक्ष को आकांक्षा पूर्वक स्पष्टीकरण करते हैं कथम भाष्य में कहा कथम संवर्गत्म वायु हाँ, वायु कैसे संवर्ग है तब कहा यदा यशमिन काले भाई अग्निबुद्धवायती इत्यादि कहा यह सब जब अग्नि जाती है सूर्य अस्त होता है चंद्रास्त होता है तो वायु विलीन होता है इसे संपर्क कहा ठीक कहा सूर्य चंद्रवशोर वायु अभिगमनम आक्षिपति पूर्वायु आक्षेप करता है सूर्य चंद्र वायु में कभी लीन होते नहीं वो आधिकारी पुरुष है प्रलय काल तक स्थायी रहते हैं वो अपने स्वरूप में है वो कहां वायु में लीन होते हो अधिकारी पुरुष है वो प्रलय काल तक चिरंजीवी है वो ये है कि अन्य जैसे बार बार मोरो बार बार पैदा हो ऐसा नहीं सृष्टि के आदि में पैदा होते हैं और प्रलय काल तक था ही है वो सूर्य चंद्रमा ये आक्षेप है अपने स्वरूप में है कहां वायु में लीन होते हैं ये सूर्य चंद्र ये शंका सूर्य चंद्रमसोर वायु अभिगमनम आक्षिपति सूर्य और चंद्रमा को वायु में लय होना जो कहा हाँ, इसमें आक्षेप करता है पूर्व कैसे आक्षेप है तो कहा ननु ननु कथम सूर्य चंद्रमा स्वरूपावस्थित वायु अभिगमनम सूर्य और चंद्रमा तो अपने स्वरूप में है कहीं वायु में जाते ही नहीं विलीन होते ही नहीं कभी हमेशा ही है वो तो वायु में प्रलय होना कैसे वायु में लीन होना कैसे ये प्रश्न आया <clears throat> ठीक है कहते हैं आप्रलयात तयोर अधिकार पदे स्थिति अंगीकारात स्वरूपावस्थित द्रष्टव्य पूर्वादि की शंका में स्वरूप अवस्थित ही वो आया हुआ स्वरूप में अपने स्वरूप में अवस्थित है वो हमेशा के लिए नहीं कहते हैं आ प्रलय प्रलय काल तक बस इतना है आ प्रलय वो तो महाप्रलय होगा खंड प्रलय में कहा महाप्रलय तो ये जो आदित्य देवता में बैठे भी है जो इसके पहले आया था कि अकेला एवं मध्यस्थ था नहीं देता नष्ट में था हाँ। आदित्य में जो बैठा वो देवता के कार्य का समाप्त होने का तो ये वो तो तो उसका भी मतलब आधिकारिक पुरुष महाप्रलय तक रहता है कि खंड प्रलय तक भी हो सकते हैं नहीं ये तो रहेगा आप महाप्रलय तक रहें मतलब तो तो ये शंका है अप्रलया तयोर अधिकार पदे स्थिति अंगीकार आते अधिकारी पुरुष रहते हैं प्रलय काल तक उनको उनका अधिकार पद है वो सूर्य पद एक आधिकारिक पद है चंद्र भी ऐसा ही है ऐसा ही है अप्रलया तयोर सूर्या चंद्रमसोर अधिकार पद स्थिति अंगीकार अधिकार पद है वो सूर्य चंद्र पद अधिकार पद है उसमें स्थिति स्वीकार होने से स्वरूपावस्थित इसी अप्रलय प्रलय काल तक रहते हैं इसलिए उनको स्वरूपावस्थित कहा वास्तव में स्वरूपावस्थित नहीं हो वो भी नाशवान है ये कहना चाहते हैं सूर्यादय स्वरूपावस्था में भी वायु अप्रय संभवती समाज सिद्धांत बोलते हैं सूर्यादि या अपने स्वरूप में रहने पर भी वायु में लय संभव है सूर्यादय स्वरूप अवस्था है सूर्य चंद्र आदि का अपने स्वरूप में स्थित होने पर भी वायु अप्यय समझ वायु में लीन होना संभव है ये समाधान करते हैं सिद्धांति नहीं दोष है इसमें कोई दोष नहीं है क्यों अस्तमरे आदर्शन प्राप्त है अस्तमर माने आदर्शन प्राप्ति होनी है उसमें वायु निमित्त अस्त अस्त होना माने अदर्शन होना अदर्शन होना माने वायु धक्का देगा तो दूर पहुंच जाएगा हमारे इससे दर्शन नहीं होगा वायु निमित्त है उसमें एक उत्तर दिया है ठीक है टीका में कहते हैं अस्तमने सती सूर्य आदि जब सूर्य के अस्त होने पर सूर्य चंद्र आदि का अस्त होने पर अदर्शन प्राप्त है अदर्शन होगा उनके अस्त होने पर हमारे दृष्टिकोण में नहीं आएंगे सूर्य अस्तमने सती अस्त सूर्य के अस्त हो जाने पर सूर्यादय सूर्य चंद्र आदि के अस्त होने पर अदर्शन प्राप्त देखना बंद हो जाएगा अदर्शन प्राप्ति होने से वायु अधीनत्व रहे है तो उसका इसके लिए प्राप्ति में क्या है हमारे दृष्टिकोण से दूर होने में वायु उसका कारण है वायु का अधीन है वो वायु धक्का देता है दूर पहुंच जाता है प्रदर्शन हो जाता है ये अर्थ है इसलिए कहा वायु ना ही अस्तम नहीं है सूर्य वायु के द्वारा ही सूर्य को अस्त कराया जाता है क्यों <clears throat> तो चलन से वायु का रूप हुआ जो तो चलन क्रिया है सभी की वायु के कारण से चलन होना है वायु का कार्य हो <clears throat> ये कहा टीका में कहते हैं सूर्य ग्रहण चंद्रवशो के उपलक्षण सूर्य कहा यहाँ केवल अस्त बने सूर्यादि इत्यादि में चंद्रमा भी उपलक्षण है उसका भी वायु के कारण से अस्त होना है गौणस्तरी वायु अपेय सूर्या फिर तो गौण हो गया वायु विलीन होना माने गौण हो गया माने अस्त होना माने अदर्शन होना इतना ही है तो ये गौण हो गया ये शंका करेगा करना अथवा देखो हमेशा के लिए हो जाएगा आगे देवी होगा अथवा कहा अथवा प्रलय सूर्या चरणसो स्वरूप से जब प्रलय काल आएगा जब तो महाप्रलय होगा तो इनका भी स्वरूप नाश हो जाएगा स्वरूप नाश होने पर तेजो रूप है तो तेज स्वरूप है तो तेज का लय कहा और वायु है तेजो रूप है और वायु ये अभिगमन से वायु में लय बना हुआ क्यों कार्य का लय कारण में होता है ये कहा तो हाँ बाद में वो होगा पहले तो ये अलय होगा ना वायु में ठीक है समृद्धि समय ही समर्थी वाले है अथवा संहार के समय में संहार करता है सबको संहार के समय में सबको समेट लेता है हिरण्य गर्भ रूप से सबको समेट लेता हो अधिवेदित वायु है हिरण्य गर्भ रूप से सबको सबको अपने लिए लीन कर देगा ठीक है आगे मंत्र है यदा उच्छिष्य वायुमेव पियन्ति वायुरी एव एतान् सर्वान् वृक्ते इति अधिदैवतम् यदाप वायुमेव अपियन्ति वायुरी एव सर्वान् वृङ्क्त इत्यधिदैवतम् तीन देवता पूर्वक हो गए थे अग्नि सूर्य चंद्र अब एक और जल के लिए बोलते हैं कि चार चार बड़े बड़े को समेटने वाले हैं उसने संबर्ग कहा वायु को यदा आप उचित शांति जब जल सूख जाते हैं जल सूख गए तो सूख जाते हैं वायु में होते वायु में लीन हो जाते हैं कहां जाना है वायु में लीन होना है वायु ही एवं एतान सर्वान करते हैं वायु ही ये सबको स्वीकार करता है इति अधिदैवतम यह अधिदैवत उपासना इस प्रकार है भाष्य होते तथा जिस प्रकार सूर्य चंद्रादि वायु विलीन होते उस प्रकार तथा यदा आप उच्छिष्यंती उच्छ्वसन आपवंती जब शुक्र को प्राप्त हो जाते सुख जाते हैं जल तो तदा वायु में अपियंती वायु में ही को ही प्राप्त होते हैं क्यों वायु ही यस्मात एवं एतान अग्नियाद्यान महाबलान समझे महाबलशाली है ये अग्नि है सूर्य है चंद्र है जल है महाबलशाली है प्रलय कर सकते हैं ये जब चाहे ऐसी बलशाली है जैसे देखो वायु इतना बलशाली है इतने बलशाली को भी अपने में समेट जाता है इसलिए उपास्य है वो ठीक है वायु ही, ही माने अस्मात वायु ये जो वायु है अस्मात एवं एतान अग्नियादी वायु ही देखो ये जो इन अग्नियादि को अग्नि सूर्य चंद्र जल बड़े बड़े शक्तिशाली वस्तु हैं इनको महाबलान महाबल है जिनमें ऐसे महाबल वाले हैं बलशाली हैं इनको समृद्ध सबको समेटता है सबको खा लेता है अतो वायु संवर्ग गुण उपास्य इसलिए संवर्ग गुण वाला वायु संवर्ग गुण सा संवर्ग गुण संवर्ग गुण जिसमें है भौगोलिक समास करके उपासना करना संवर्ग गुण सहित वायु की उपासना संवर्ग उड़ान पालन जो वायु है उपास्य है क्या कहा इति अधिदैवतम ये अधिदैवत उपासना देवतासु संवर्ग दर्शन उत्तम देवताओं में संवर्ग दर्शन बताया है देखा टीका तो है नहीं आगे मंत्र है अथाध्यात्म प्राणो वाल संवर्ग सरला स्वपिति प्राणमेव वागप्येति प्राणम चक्षु प्राणम श्रोत्रम प्राणम मन प्राणो एव सर्वान् वृङ्क्ते इति प्राणो वावसम्वर्गः स यदा प्राणमेव वागप्येति प्राणम चक्षु प्राणम श्रोत्र प्राणम मन प्राणो हि एव सर्वान् वृङ्क्त अथा अनंतर अधिदैव उपासना के अनंतर अब अध्यात्म उपासना माने अधिदैव जगत में भी सबसे श्रेष्ठ वायु है और अध्यात्म में भी सबसे श्रेष्ठ वायु है माने हिरण्य गर्भ की उपासना है संवर्ग रूप से उपासना है ये कहते हैं अथ अध्यात्म अद्वैव के अनंतर अध्यात्म उपासना भीतर की उपासना है प्राणोभाव संवर्ग ये प्राण जो पंचवृत्ति वाला प्राण है यही संवर्ग है क्यों ये संवर्ग संवर्धन गुण इसमें भी है ये प्राण में भी क्या है स माने पुरुष वो जो व्यक्ति सामने कोई व्यक्ति होगा स यदा सोती जब सो जाता है सुसुप्ति में जाता है या सोती माने विशेष रूप से सुसुप्ति में पहुंचता है जब व्यक्ति स्वप्न की बात नहीं है स्वपेती प्राणम एवं बाघ अपेती प्राणम द्वितियांत है बाघ प्रथमांत है प्राण को ही बाघ लय हो जाती है ये वाणी प्राण में ही लीन हो जाती है इस काल में वाणी काम नहीं करती कहा प्राण है वो प्राण एक होकर बैठ जाती है बाघ प्राण में अप्यति वाणी जो है बाघ इंद्रिय प्राण में लीन हो जाती है और प्राण चक्षु चक्षु भी प्रथमांत है कहाँ लीन होगी प्राण द्वितीयांत है प्राण में ही प्राप्ति उसी में लीन होगी होती है और प्राण स्रोत्र सूत्र इंद्रिय भी उसी में लीन होना है काम नहीं करते कोई भी सुसुप्ति में और प्राण जगा हुआ होता है बाकी सब सोए हुए होते हैं ये स्थिति है और प्राणम मन मन भी काम नहीं करता वहां स्वप्न की बात नहीं सुपीति का अर्थ स्वप्न नहीं स्वप्न में मन काम करता है या सुपीति माने सुसुप्ति मन भी प्राण में लीन हो जाता है प्राण ही एवं एतान सर्वान बनते ये सबको प्राण समेट लेता है अपने में अपने ग्रस लेता है खा लेता है सब के भाष्य में कहते हैं अथ अनंतरम अध्यात्मम आत्मनि भवम अध्यात्म वैसा होता है अपने में होने वाला शरीर में होने वाले को अध्यात्म कहा जाता है अथ अध्यात्म कहा अनंतरम अध्यात्म आत्मनि संवर्ग दर्शनम एकदम उच्चते पहले बाह्य वाला संवर्ग दर्शन था अभी शरीर के भीतर दिखाना चाहते हैं आत्मा में शरीर है शरीर में दिखाना चाहते हैं संवर्ग दर्शन एकदम उच्चते ये संवर्ग उपासना ही कही जाती है प्राणो मुख्य भाव संवर्ग प्राण माने घ्राण को नहीं लेना कभी कभी प्राण शब्द का घ्राण इंद्रिय होती है वो नहीं लेना मुख्य प्राण वही तो संवर्ग है घ्राण इंद्रिय सुशुक्ति पर किसी को समेट नहीं सकती स्वयं समेट जाती होती मुख्य प्राण कहा प्राण माने मुख्य प्राण जो पांच वृत्ति से जो काम कर रहा है प्राणापान ध्यान समान उदान यही प्राण माने मुख्य भाव संवर्ग मुख्य प्राण ही संवर्ग है सपुरुष स माने पुरुष वो पुरुष जो सोया हुआ पुरुष को लेकर के बोल रही है स माने पुरुष वो जो मनुष्य है यदा यशमिन काले सुखी जिस अवस्था में सो जाता है मैंने सुसुप्त में गाढ़ निद्रा में पहुंच जाता है प्रगाढ़ निद्रा में है पहुंच जाता है प्राण में उसका जो वाणी होगी प्राण में लीन हो जाती है उसका प्राण में बाघ होती है बाघेंद्री उसकी प्राण में लीन हो जाती है और वायु में बाग्नि जैसे अग्नि वायु में लीन कहा था पूर्व में अजैवत उपासना में इसी प्रकार इसके बाद इंद्र प्राण में लीन हो जाती है सुसुप्त जगह वायु में जो अग्नि है ये दृष्टान्त है जैसे अग्नि को वायु में लीन होना बताया था अधिदेवत उपासना में इसी अध्यात्म में बाघ इंद्र प्राण में लीन हो जाती है प्राण चक्षु इस प्रकार चक्षु इंद्रियों भी प्राण में हो जाती है चक्षु प्रथमांत है प्राण प्राणम श्रोत्रम श्रोत्र इंद्रिय भी प्राण में लीन हो जाती है सुसुप्ति में प्राणम मन मन भी काम नहीं करता उस काल में मन भी प्राण में लीन हो जाता है सुसुप्ति में कहा प्राण ही अस्मात एवं एतान भागादिन सर्वान्ते बनते जैसे घी मन अस्मात प्राण ही कैसा है प्राण जिस कारण से प्राण एकान बाघादि बाघादि सारी उपलक्षण है सारे इंद्रियों को समझ लेते हैं प्राण इसलिए संवर्ग है प्राण अध्यात्म में संवर्ग प्राण है अधिदैवत में संवर्ग वायु है ये उपदेश दिया ठीक है कथम प्राण से संवर्गत्व इतिहास है क्या प्राण में संवर्गत्व कैसे वायु में तो देखा ठीक है सबको सब उसमें लीन हो जाते हैं प्राण को संवर्ग क्यों कहते हैं आया तो पता सपुरुष यदा सुख अरे सुसुप्ति अवस्था में देखो जब व्यक्ति सो जाता है जब सुसुप्ति में उस समय में बाणी आदि सब उसे भी लीन होते हैं प्राण ये ये इसे संपर्क है वो ये कहना चाहते हैं ये भाषण में कहा सपुरुष यदा इसमें काले सुखती प्राण विवाह करते थी वायु विवाह भी नहीं दृष्टान दिया जैसे अग्नि को अधिदाय में कहा था वायु में लीन होना वैसे बाणी प्राण में लीन होना अध्यात्म ये बताया इत्यादि तस्मात संवर्ग इसलिए सबके सब इसमें लीन हो जाते हैं इसलिए संपर्क है उपाय प्राण तस्मात संपर्क थी अध्यात्म अध्यात्म थी तस्मात ही मान यस्मात से आरंभ हुआ था ही मान यस्मात एवं एकान बाघादिन सर्वान संवृत्त तस्मात संवर्ग अर्थ है तस्मात संवर्ग ये अध्यात्म विधि से अध्यात्म उपासना भी हो गई कहा अच्छा आगे मंत्र है आगे तौबा ये तौ तौ संवर्ग वायुरेव देश प्राण प्राण प्राणेशु तौबा ये तौ तौ संवर्ग वायुरेव देश प्राण प्राणेशु पूर्वोक्त जो कथित हो तो वही जो तो पूर्व पूर्व में कहा दो वायु और प्राण पौपई ये तो दो संवर्ग ये दो ही संपर्क है अधिदैवत में वायु है अध्यात्म में प्राण है देखा वहां भी वो सबको समेटने वाला अग्नि आदि को और ये बाघ आदि को समेटने वाला है सुश्रुति काल में ये देखा इसलिए संवर्ग है दोनों संपर्क है पौवा वायु तो संवर्ग हो रेव देवेश जब देवताओं में देखते हैं अग्नि आदि में तो वायु संवर्ग है और प्राण प्राणेश प्राण प्राण प्राण है ये जो मुख्य प्राण है प्राणेश मानी इंद्रियेश या प्राण सब सप्तमंत्र जो प्राण इंद्रिय को लिया बाघादि इंद्रिय जो प्राण है उनमें मुख्य प्राण संबंध है उसी में समेटे जाते हैं सुश्रुति काल में ये देखा है ये ठीक है हम कहते हैं वायु प्राणो अधिदैवत अध्यात्म भेदे न सर्वगुण उक्त उपसंहरित संवर्ग गुण उक्त उपसंहरती है वायु और प्राण को अधिदैवत और अध्यात्म दो विशेष करके बताया वायु को बताया बाह्य वायु को अधिदैवत बताया और प्राण को अध्यात्म होता है इस भेद से संबर गुण तो दोनों में संवर्ग गुण कहा दोनों समझने वाले हैं हम्म, जब अग्नि गूंजती है तो वायु विलीन होती है सूर्य अस्त होता है तो वायु में चंद्र अस्त होता है तो वायु में जल सूखता है तो वायु में अधिदैवत तो बताया और यहाँ बाघ है चक्षु है स्रोत्र है मन है सब प्राण विलीन होते हैं सुश्रुति में बताया सबको समेटते हैं इसलिए संवर्ग भुगता उपसंग इसी को उपसंहार करते हैं संवर्ग को ये कहा तौ व तौ वही है तौ तो दो संवर्गों का ये प्रसिद्ध ये दो ही है संवर्ग वायु बाहर और ये प्राण ये संवर्ग है संवर्धन गुण संवर्ग वाले संवर्धन गुण वाले हैं समेटने वाले हैं सबको खाने वाले हैं सबको हम्म। ऐसे है वायु रेव देवेशु हाँ, अग्नि आदि देवताओं में वायु संवर्ग है संवर्ग वायु रेव देवेशु संवर्ग हाँ, देवताओं में वायु संवर्ग है अग्नि आदि देवों पर कहा जाता है प्रलय का आदि प्राण प्राणेशु भागावेशु मुख्य प्राण मुख्य प्राणेशु भागावेशु मुख्य प्राण जो है बाघादि इंद्रियों के संपर्क उसको समझता है सुसुप्ति में सबको ये बताया आगे मंत्र है एक संवर्ग विद्या के उपासक ब्रह्मचारी दो महापुरुष भोजन करने की तैयारी में थे आकर के भिक्षा मांगता है तो वो ब्रह्मचारी थोड़ा मैं ब्रह्मवेत्ता हूं करके थोड़ा घमन भी था इसलिए भिक्षा नहीं देते हैं नहीं देते को बोलता है जिसके लिए तुम ये भिक्षा पकाई गई उसको नहीं दिया मैं मैं परमात्मा रूप हो रखा हूं प्राण स्वरूप हो रखा हूं प्राण के लिए भिक्षा बनाती है मैं प्राण रूप हूं मैं जो भिक्षा नहीं दिया ऐसा बोलता है तो आगे भिक्षा दे दो कहते भिक्षा देते हैं इत्यादि कहानी सुनाएंगे इसलिए संवर्ग विद्या की स्तुति के लिए ये कहना चाहते हैं अनंतर अब कहते हैं उसी संवर्ग विद्या की प्रशंसा स्तुति इसके लिए कहते हैं अथ सौनकम च कापेयम अभिप्रताड़ितम च चाक्षसेनम ब्रह्मचारी विवक्षे तस्मा ददतु अतः सौनकम चकापेय अभिप्रताड़िम च काक्षसेनम ब्रह्मचारी विवक्षे तस्मा ऊहन तदतु अथ अनंतर यह संवर्ग विद्या की स्थिति के लिए संवर्ग विद्या कितनी बड़ी चीज है ये दिखाना चाहते हैं इसकी प्रशंसा के लिए हाँ प्रसिद्ध है सौनकम कापेयम सोनक के संतान है वो सौनक उनका नाम है सोनक के संतान होने हाँ, से सौनक कहा सोनक ऋषि के संतान है यद्यपि यहां सौनक ही होना चाहिए अतः लगना चाहिए सोनक का शब्द अनंत है किंतु ऋष्यंत का कुरु विष्णु व्यस्त से अण हुआ है ऋषि वाचक के सुनक शब्द इसलिए अण प्रत्यय हुआ है यह को बात करके सुनक के संतान है तो इसलिए उनको कहा सौनक और कपि गोत्र में उत्पन्न होने से उनको कापेय बोला गया त्रिव्यो ढक सूत्र के अधिकार में इतश्चान्या कपि शब्द इदंत है यह प्रत्यंत नहीं है उसे ढक प्रत्यय हो गया है कापेय माने सोनक के पुत्र है कवि गोत्र में उत्पन्न है एक ऋषि ऐसे हैं दूसरे ऋषि क्या है अभिप्रतारी का नाम उनका अभिप्रतारी है एक ऋषि का अभिप्रतारिणी तो अभिप्रतारी नाम क्या है और कक्षसेन का पुत्र होने से काक्षसेन हो गए अतः यह लगा हुआ है दो ऋषि तो दो व्यक्ति जो थे परिवेश मारो माने भंडारी आदि के द्वारा परोसा जा रहा था उन दोनों को भोजन परोसा जा रहा था उस काल में ब्रह्मचारी विवक्षा एक ब्रह्मचारी आखिर की कहा भिक्षा दे ही बोल दिया भिक्षा मांगी उसने विवक्ष लिट लगा ब्रह्मचारी आया भिक्षा मांगी तस्मय उहनम न तो थोड़ा वो ब्रह्मचारी ऐसा था मैं ब्रह्म विद्या में विशेष होकर के थोड़ा अभिमान था ब्रह्मचारी वो जानते थे वो वो जो संरक भी जानते अभिप्रतराय भी जानते थे इसलिए उनको भिक्षा न दे तो दोनों ने भिक्षा नहीं की भिक्षा नहीं दी उन दोनों को भिक्षा नहीं दी ये लगा दे ददो ददतु नहीं दी भिक्षा नहीं दी ये कहा भिक्षा न ददतु ये कहा भिक्षा नहीं दी अच्छा टीका में कहते हैं अथह इत्यादि अनंतर वाक्य में जाते हैं अथह आदि जो वाक्य है इसकी व्याख्या करते हैं अथह अथ ये तय स्तुत्यर्थम यही दो संवर्ग की स्तुति के लिए प्रशंसा के लिए हाँ, एक अधिदैवत वायु एक अध्यात्म वायु ये दोनों संपर्क है देखा सबको समेट लेते हैं अधिदैवत वायु भी समेटने वाला है अध्यात्म वायु भी समेटने वाला है इसलिए संवर्ग नाम पढ़ाएगा एक कहते अथ इत्यादि अनंतवाक्य व्यास का अथ भाष्य में कहते हैं अथ ये तय ये दोनों स्तुत्यर्थम ये दोनों को दोनों संवर्गों का स्तुति करते हैं दोनों वायुओं का स्तुत्यर्थम यम आख्यायिका आरभ्य कहानी की कहानी यहां आरंभ की जाती है ह इति ऐतिहार्थम ये भय प्रसिद्ध दिखाने के लिए ह शब्द का प्रयोग किया अतः प्रसिद्ध है ये दो ऋषि भोजन के लिए तैयार थे एक ब्रह्मचारी आकर भिक्षा मारा प्रसिद्ध है कहते सौनकम च नाम सौनक पढ़ा है क्यों वो पिता के नाम से सौनक नाम पढ़ा है सुनक से अप्रत्यम सौनकम ऋष्यंत गुरु कृष्ण कश्य सूत्र से अप्रत्यय होगा पहले सामान्य अनुप्राप्त होगा अतः अतः यह बात देगा अदंत होगा फिर उसको देगा ऋषि अंतर फिर विष्णु का अण करेगा ऋषि तो से शब्द है इसलिए अण हो गया है ये को बात कर तो सौनकम से मैंने सुनक से अपत्यम सौनकम कहा <clears throat> सौनक है और कापे मन कभी गोत्रम कभी गोत्र वाला है कापे हो गया वो अच्छा और दूसरा ऋषि है अभिप्रतारिगम ज नाम होता अभिप्रतारी नाम है उनका नाम से अभिप्रतारी है दूसरे और कक्ष सेवन से अपत्यम काक्ष सेन कक्ष सेन के संतान होने से काक्ष सेनी कहा उनको यह प्रत्यय लगा लिया भोजन आया उपिष्ट दोनों भोजन के लिए बैठ गए हम्म, बैठे परिविष्ट माणो शुभकार के द्वारा हमारे भंडारियों के द्वारा परोसने की तैयारी में है शुभकार ही जो भोजन बनाने वाले शुभकार बोलते हैं भंडारी हैं उनके द्वारा परिवेश माण थे तैयारी थी परोसने की तैयारी में थे भरोसा हो रहा था उसका अर्थ ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी आया और भिक्षा मांगी कहते हैं ब्रह्मचारी ऐसा ब्रह्मविद सौन रहा विभिक्षा कहते हैं माने मैं ब्रह्मवेत्ताओं में सूर हूं ऐसा अपने को मानता था वो बहुत पढ़ा लिखा हूं सारे ब्रह्मवेत्ताओं में विशेष मैं हूं स्थान प्राप्त हूं ऐसा अभिमान था थोड़ा ब्रह्मचारी को कोई अभिमान माने उसको समाप्त करने के लिए इन्होंने भिक्षा नहीं दी बोलना चाहते हैं ब्रह्मचारी कैसा ब्रह्मविद छऊंड छऊंड बोला ब्रह्मचारियों में सूर है वो ऐसा अभिमान है सूर तो नहीं सूर का अभिमान सूरत्व का अभिमान है उस ब्रह्मचारी को विवक्ष दीक्षितवान उसने दीक्षा मांगी दीक्षा में यही बोल दिया ब्रह्मचारियों ब्रह्म ब्रह्मविद मान्यता रहा अच्छा ब्रह्मचारी अपने को ब्रह्मकत्ता मानता है ऐसा समझ गए वो इसी दोनों दोनों जगह तो समझ गए बुद्धवा तम जिज्ञास मानो उसको जानना चाहते हैं कौन ब्रह्मचारी है ये वो तो दोनों ऋषि इसको जानना चाहते हैं ब्रह्मचारी को जिज्ञास मानो तस्मय वो भिक्षा मतलब कहा उसके लिए भिक्षा नहीं दी उनको दोनों ने उसको समझ पहचानना चाहते हैं कौन ब्रह्मचारी है बड़ा अभिमानी दिखता है पहचानना है कौन है जिज्ञास मानो जिज्ञास है जानना चाहते हैं उसके विषय में इसलिए भिक्षा नहीं दी न दर्पो बने न दर्पवंत हो ही किम अयम अक्षति जरा भिक्षा रोको क्या बोलता है ऐसा ऐसा वो भिक्षा रोक दी खाने की तैयारी थी आगे भिक्षा मांगी तो भिक्षा रोक दी उन्होंने क्या बोलना चाहता है इधर आते हैं थोड़ा घमंडी लगता है क्या बोलता है ऐसा ठीक है कहा कहते हैं ब्रह्मविद छौंड विशेषण दिया ब्रह्मचारी का भाषिकार ने ब्रह्मचारी विवेक से मंत्र तो यही है किंतु भाषिकार ने ब्रह्मविद सौंड बोल दिया माने ब्रह्मविद सौंड माने ब्रह्मविदाम मध्य सूरम आत्मान मन्य माने दिया ब्रह्मविद्ताओं में मैं सूरवीर हूं अपने को ऐसा मानता है था तो नहीं इतना बड़ा किंतु मानता है मान्यता उसकी है अपने को बड़ा सूर मानने वाला मैं अग्रगण्य हूं ब्रह्मविद्ता ऐसी मान्यता थी उसकी ब्रह्मचारी को अच्छा, आगे गए हाँ, सोम स्वर्ण माने धूर्ता है विशेष है वो तो अब ये तो बनाना पड़ेगा ऐसा अच्छा ब्रह्मित का बुद्धवा बुद्धवा का अर्थ करते हैं बुद्धवा लिंग विशेष उसके जो हाव भाव से गुरु को पता लग गया थोड़ा उसके आकृति ऐसी थी थोड़ा घमंडी जैसा लगा कैसे जाने बताया तो नहीं उसने मैं दुर्बलता हूं सूर हूं किंतु वो समझ गए थोड़ा है ऐसा बुद्धवा का लिंग विशेषण बुद्धवा उसके शरीर के आकृति जो मुखाकृति से लेकर के समझ गए वो ये थोड़ा घमंडी है ऐसा समझ गए जिज्ञासमान उक्त इति उक्त उक्तम एवं व्यनती जो जिज्ञासमान थे दोनों जानना चाहते थे क्या करेगा यार क्या बोलेगा तो उसी को व्याख्या कर दी किम अयम बक्ष क्या बोलेगा ऐसा उन्होंने सोच करके भिक्षा रोकी हुई है दीक्षा तो देंगे बाद में अविरोध भी ये कहा आगे कहते हैं अब वो बोलता है ब्रह्मचारी कहता है सहोवाच महात्मना चतुरो देव एक का सजगार वनश्य गोप तम कापेय नाविपश्यंती मर्त्या अभिप्रतारिण बहुधा वसंतम यस्मैवा न दत्तमिति सहोवाच महात्मनश्चतुरो एव एकः स जगार भुवनश्च कोपः तं कापेय नाभिपश्यन्ति मर्त्याः अभिप्रतारिम् बहुधा वसन्तम् यस्मै वा तस्मा एतन्न ब्रह्मचारी वास्तव में समर विद्या का उपासक था वो प्राण भाव में था वो प्राण उपासक था प्राण भाव में था वो अन्न पकाया जाता है प्राण के लिए उसका कहना है प्राण खड़ा है प्राण को तुमने नहीं दिया बोलना चाहता है वो है ब्रह्मचारी ने कहा जब भिक्षा नहीं दिया कहता है ब्रह्मचारी महात्मा चतुर्देव एक क्षदार चार महात्माओं को एक देवता ने खाया और कौन देवता है अग्नि हाँ, सूर्य चंद्र जल चार को खा गया जो महात्मा पूर्व कथित था जो चार और इधर बाणी आदि को खा रखा है बाढ़ का चक्षु है स्रोत है मन है सबको खा रखा है जो देवती इस देवता ने चतुरा द्वितीय बहुवचन है महात्मा ना चतुरो जो महात्मा चार को देव एक एक देव ऐसा देव है चार को खा गया जगार खा गया ग्री निगरड़े जगार लिट लगा खा गया चार महात्माओं को खा गया बड़े बड़े महापुरुष को खा गया सूर्य आदि को खा गया ऐसे देवता है एक एक ही देवता है वो देवता कह मैंने यहाँ प्रजापति भी है तो क्या कौन देवता है प्रश्न भी है सा कौन है वो देवता बोलो ये भी हो सकता है किम शब्द मैंने यहाँ प्रश्नवाचक भी है दोनों का अर्थ करेंगे तो कहा माने प्रजापति वो प्रजापति देवता है अथवा क्या है वो कौन है वो देवता ये प्रश्न भी हो सकता है जो चार महात्माओं को खाने वाला देवता कौन है उनको पूछ सकता है वो कौन जो देवता है प्रजापति का भुवनश्व गोपा चौदह भुवन के रक्षक है वो देवता वो एक देवता जो चार महात्मा को खाने वाला देवता चौदह भुवनों के रक्षक है भुवनश्व गोपा गोपाई का रक्षक है तम कापे उस उस देवता को उस देव को कापे ना भी पश्यंती मरते ये सामान्य जो अज्ञान से छाए हुए लोग उस देवता को नहीं जानते हैं माने वो देवता खड़ा है कहना चाह रहा वो अभिक्षा नहीं दिया जा रहा है वही देवता यहां खड़ा है क्यों उसका उपासक है तदभाव में ना हो ये बोलना चाहता है हे कापेय संबोधन करके कहा हे कापेय उस देवता को नहीं जानते लोग जो चार महात्मा इतने बड़े बड़े को खा खाया है ये देवता ने अभिपस अभिप्रतारिण उसको भी संबोधन अभिप्रतारी को भी अभिप्रतारिण उसको भी संबोधन किया बहुधा बसंतम अध्यात्म अधिभूत अधिदय भाव से विद्यमान है रहने सबके हम सब सारा संसार में विद्यमान हो देवता बहुत प्रकार से रह रहा है अध्यात्म रूप में अधिभूत रूप में अधिदैव रूप में सारा वही देवता छाया हुआ है हिरण्यगर्भ की चर्चा है बहुधा बसंतम बहुत प्रकार से रह रहा देवता ऐसे रहने वाले देवता को हाँ, उसको जानते नहीं लोग मरते लोग नहीं जानते कहा यशमयी भाई यद अन्नम जिसके लिए अन्न पकाएगा प्राण के लिए अन्न होता है मैं प्राणोपासक हूं मैं प्राण भाव में हूं ये बोलना चाह रहा हो समझिए प्राण भाव है उसके यशमयी भाई एतद अन्नम जो अन्न पकाया गया जिसके लिए यह अन्न तस्मय एतद न दत्तम यह अन्न उसको नहीं दिया गया ऐसा बोल दिया अपने साहिब जिसके लिए पकाया था उसी को नहीं दिया मैंने भिक्षा मांगी थी ब्रह्मचारी ने मैंने ब्रह्मचारी उस भाव में है सगुण के उपासक है उपासना पूरी है मैंने तल भाव में बैठा हुआ है इसलिए बोला जिसके लिए अन्न पकाया गया उसी को नहीं दिया मैंने मैं प्राण हूं प्राण के लिए अन्न पकाते हैं प्राण प्राण भाव में था अपने मनुष्य भाव में नहीं था वो भावना उसकी ऐसी बनी थी एक टीका कहते चतुर इति द्वितीय बहुवचन दर्शनाथ महात्मन इति तात्विक ये जो महात्मन शब्द तो दोनों में एक जैसे बनेगा माने ष्ठी पंचमी जो द्वितीय तीन में षष्ट्यंत है कि महात्मन षष्ट्यंत है पंचमी है कि द्वितीय बहुवचन क्या है ष्ठी एक वचन पंचमी एक वचन द्वितीय बहुवचन समान बनना है तो ये महात्मा को किस विभक्ति माना जाए तो टीकाकार कहते हैं चतुर शब्द द्वितीय का बहुवचन है इसलिए उसका विशेषण महात्मा है तो उसको भी विद्या का बहुवचन समझना ये कह रहे चतुर यदि क्यों चतवार चतुरा चतुर्वी इत्यादि चलता है चतुरा बनेगा द्वितीय बहुवचन चतुर शब्द का चतुरा यदि द्वितीय बहुवचन दर्शनात् तो चतुर चतुरा ये द्वितीय बहुवचन देखने से महात्मा यदि तात्विक है महात्मा शब्द भी द्वितीय का बहुवचन ही है पंचमी षष्टी मत समझना महात्मा तो यद्यपि विभक्ति एक जैसी होनी है प्रथमा बहुवचन तो महात्मा हो जाएगा किंतु पंचमी षष्ठी एक वचन तो महात्मा नहीं बनना है तो इसलिए पंचमी षष्ठी में समझना द्वितीय बहुवचन सुना कि क्यों चतुर शब्द के सन्निधि से है ये कहा द्वितीय इत्यादि कहा सहोवाच ब्रह्मचारी महात्मा न थी द्वितीय बहुवचन महात्मा भी द्वितीय बहुवचन चतुर भी द्वितीय बहुवचन है भाष्यकार ने बोला <clears throat> अथवा ऐसा अर्थ होगा इसका महात्मना इत्यस्य पंचम यादव प्रयोग देखा गया पंचमी भी देखा गया महात्मा शब्द का महात्मा शब्द का पंचमी एक बदल महात्मा ष्ठी भी पंचम यादव चतुर इत्यस्य समीचीन है चतुर माने कुशल व्यक्ति के लिए चतुर बोलते हैं बोला जाता है अब ये चतुर का अर्थ द्वितीय बहुवचन कर रहे कुशल व्यक्ति समझ रहा ये भी चतुर माने कुशल ऐसा भी होता है यदवा करके कहते हैं यदवा महात्मा इत्यस्य पंचम यादव चतुर से समीचीन प्रयोग अच्छे व्यक्ति को चतुर बोलते हैं प्रयोग देखा है महात्मा शब्द पंचमी में देखा षष्ठी में देखा चतुर शब्द समीचीन व्यक्ति कुशल व्यक्ति में देखा गया प्रयोग यह तथा महाभूत ऐसा न हो इसलिए भाष्यकार कहते हैं महात्मा आदि करके चतुर द्वितीय बहुवचन भाष्यकार ने द्वितीय बहुवचन बोल दिया ऐसा अर्थ न करे कोई महात्मा कहीं पंचमी षष्ठी कर दे और चतुर को कहीं कुशल व्यक्ति समझे ऐसा आता है इसे द्वितीय बहुवचन स्पष्ट कर दिया ये कहा अतो ही जगार इति संबंध अत लगाना जाते हैं तयोर द्वितीयांत वो दोनों द्वितियांत है चार महात्मा को अतो ही जगार एक देव खा गया जिस संबंध करना ये कहा क माने शब्द क शब्द प्रजापति विषय में व्याख्या था पूर्व में क माने एक देव ने खाया प्रजापति ने खाया ये क शब्द पहले प्रजापति रूप से व्याख्या है अच्छा क अच्छा देव एको अग्नियादीन वायु बाघादीन प्राण एक देव कौन है अग्नियादीन वायु अग्नियादि को वायु ने खाया है बाह्य वायु ने और बाघादीन प्राण प्राण ने बाघादि इंद्रियों को खाया सुश्रुति में यही एक देव ऐसा बोलता है क स प्रजापति जगार दर्शितवान कहा क माने उस प्रजापति है वो स प्रजापति हाँ, जगार दर्शितवान कहा क स जगार यदि प्रश्न में कुछ लोग मानते ये उसको कौन कौन खाया ये कहना चाहते हैं ये प्रश्न हो जाते हैं कोई लोग ऐसा मानते हैं कहा भुवन से गोपाल का अर्थ है भुवन से मैंने भवंती अश्विन भूतानी की भुवनम भूत आते से लूट प्रत्यय अधिकरण अर्थ में ऐसा बना के बनाया भवंती अश्विन जिसमें भूत होते हैं रहते हैं प्राणी रहते हैं उसको भुवन बोला जाता है चौदह भुवन जो होते हैं प्राणी का निवास स्थान है भवंती अश्विन भूतानी यहां भूत होते हैं इसलिए इसको भवन कहा जाता है भुवन कहा जाता है भूर आदि भूरादि जो भूर भुवस्व आदि को भुवन कहा जाता है सर्वोलोक सारे चौदह भुवन आ जाएंगे इसमें संपूर्ण लोग आ जाएंगे भुवन शब्द से भुवनस्य गोपा में सारे भुवनों के रक्षक सारे संसार के रक्षक तस्व गोपा उस भुवन की रक्षक है गोपायिका रक्षिता और गोपा का अर्थ गोपायिका गोपायिका मैंने रक्षिता मान गोपता उसी का अर्थ है रक्षक है तम कम प्रजापति में तापय ना भी पश्यंती न जानती मध्य का उस प्रजापति देव को जो सारे संसार का रक्षक है चार चार देवताओं को खा खाने खा खा गया है इतने शक्तिशाली है किंतु उसको कोई देखते नहीं बोलते बाहर शरीर में बैठे हैं उस प्रजापति को देखने वाले कोई नहीं इतने बड़े देवता यही है किंतु देखते नहीं कोई कहा ये कहते हैं तम कम उस कम माने प्रजापति उस प्रजापति को प्रजापति भे कहते ये कपिगोत्र उत्पन्न न उपस्थिति न जानती मर्त्य मर्मधर्माना तो मनुष्य हम धर्म वाले नहीं जानते हैं अविवेकी न जो अविवेकी लोग नहीं जानते उसको कहा हुआ अभिके हुआ कहा अथवा दूसरे संबोधन अभिप्रतारी के लिए है हे अभिप्रतारिन बहुधा बसंतम कहा है वो बहुत प्रकार से बैठा हुआ है देवता कैसा है अध्यात्म अधिदैव अधिभूत प्रकार है तीन प्रकार से विद्यमान है देवता सारे संसार में छाया होता है विमूढ़ा नाम पश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुष ज्ञान रूप दृष्टि हो तो उसको सर्वत्र देख सकता है व्यक्ति ये स्थिति है हे अभिप्रकारेण बहुधा बसंत का था बहुधा अध्यात्म अधिदैवता अधिभूत प्रकार ही वसंतम तीन रूप से विद्यमान है कोई भी वस्तु तीन रूप में पाया जाता है तीन रूप में विद्यमान है यशमय भाई एक अहानी अहानी यद अन्नम अग्नाय आहूर्यते संस्कृत तस्मय प्रजापते एतद अन्नम न दत्तम ऐसा वो बोलता है ब्रह्मचारी जिसके लिए हम्म, एतद ये जो अन्न है अहानी अहानी यद अन्नम जो अन्न जो अन्न आहूर्यते आहरण किया जाता बाहर से लाया जाता है अन्न एकत्रित किया जाता है जिसके लिए और संस्कृत पकाया जाता है अन्न को बाहर से खेत आदि से लाना एकत्रित करना आहरण करना उसके बाद संस्कार करना पकाना जिसके लिए है ये मानी मैं वही हूं कह रहा है वो जो भुवन का गोपाल मैं हूं ये बोलना चाहता ब्रह्मचारी आखिर के संस्कृत है तस्मय प्रजापति उस प्रजापति के लिए मैंने ब्रह्मचारी मैं प्रजापति रूप में हूं कहना चाह रहा है प्रजापति एक अन्नम न दत्तम यह अन्न नहीं दिया गया ब्रह्मचारी का ठीक है कहते हैं क शब्द प्रजापति विषय व्याख्या था क शब्द पहले प्रजापति का विषय किया था संप्रति पक्षांतर भाव प्रश्न में कुछ लोग प्रश्न में मानते हैं इसको कौन है वो जिसने चारों को खाया वो देवता कौन है ये पूछा उसने ये कहना चाहते हैं ये प्रश्न को लेकर के का, कापे उत्तर देगा मैं जानता हूं उस देवता को तुमने पूछा है ना कह स कह वो उसी को लेकर के उत्तर मिलेगा मैं जानता हूं देवता को ऐसा उत्तर मिलेगा यहां इसका मतलब प्रश्न वाला ही ठीक लगता है किम समझ यस्तान जगार स तस्यात प्रश्न एक बताते जिसने इस चारों को खाया है अग्नि आदि को खाया है बाघ आदि को खाया है वो कौन है ऐसा प्रश्न करते हैं कुछ लोग तो प्रश्न में किम शब्द का शब्द है सा कह वो कौन है वो जिसने खाया ऐसा अत्तारम प्राणम आत्मान से एकत्व अत्ता प्राण है अहर प्राण आत्मा वो ब्रह्मचारी ऐसा मानता है जो अत्ता प्राण है अपने को स्वयं को एक मान करके बोल रहा है जिसमें अन्नम आहुर्यते संस्क्रियते हाँ। तस्में न दत्तम करके बोलने जा रहा है अत्तारम प्राणात्मान तो एक अत्तार प्राणात्मा को एक मान करके ब्रह्मचारी कहता पश्चिम एकत्व तो देखता हुआ ब्रह्मचारी कहता है मयम भिक्षा या न दो तू मेरे को जो भिक्षा तुमने नहीं दिया है ना तुम दोनों ने न दो तू तुम दोनों ने भिक्षा नहीं दी मेरे को भवंतो न दो तू आप दोनों ने नहीं दिया मेरे को भिक्षा तत् तस्मय देवाय न दगत वो वो अन्न जो है उसी देवता के लिए नहीं दिया है क्योंकि मैं उसी अभिन्न हूं मेरे को जो भिक्षा नहीं दिया वही देवता के लिए नहीं दिया तुमने जो संसार का खाने वाला देवता है जिसके लिए अन्न पकाया गया उसी को नहीं दिया ये ब्रह्मचारी का कहना है यदि अज्ञत्व एवं तय दर्शन ब्रह्मचारी उन दोनों को अज्ञानी दिखा देता है जिसके लिए अन्न पकाया उसी को नहीं दिया तुमने तय अज्ञत्व दर्शन उन दोनों को अज्ञत्व ही दिखाता है तुमने

उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ